और जिस शख्स ने तौबा की और नेक अमल किए तो यकीनन वो रजू करता है अल्लाह ताला की तरफ सच्चा रजू करना